इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए यहां तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज्यादा क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है और उन्हीं में वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے